फिर हर किस्म के फलों से अपनी खुराक हासिल कर फिर उन रास्तों पर चल जो तेरे रब ने तेरे लिए आसान बना दिए हैं इस तरह इस मक्खी के पेट से वो मुख्तलिफ रंगों वाला मशरूब निकलता है जिसमें लोगों के लिए शिफा है यकीनन इन सब बातों में उन लोगों के लिए निशानी है जो सोचते समझते हों